और ये कि नमाज की पाबंदी करो और उससे डरो और वही है जिसके पास तुम सब जमा किए जाओगे